साथ कैसे जोड़ते हैं जिसके जोड़ने से हमारा संस्कार होता है बुरी बातों से विपरीत आचरण से उल्टे विचारों से हम कैसे बचते हैं जिससे हमारा जीवन संस्कृत शुद्ध होता है प्रत्येक व्यक्ति सतत इस क्रिया का प्रयोग करता है करना चाहिए तत्व की प्रमाणी आलसी है some व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है इसका अर्थ यह है कि आप संस्कारों को डालना संस्कारों का निर्माण और पूरे संस्कारों का उठाना आप नहीं जानते एक दृष्टांत दिया जाए तो आपको समझ में आएगा आप ये देखते हैं भारत के अंदर इतने बड़े बड़े समुदाय हैं और उसमें जाति पाति के बहुत भेद हैं और सिंह जाति पाति के कारण से भारत पराधीन हुआ और भारत का जितना धन संपत्ति था वह लूट लिया गया ऋग्वेदों की परंपरा लुप्त की गई सब कुछ हुआ जो तो कुछ होना था और उस जाति पाति को अब छोड़ने के लिए तैयार ये है बुरे संस्कार प्रत्यक्ष देख सकते हैं आप और इस व्यक्ति के दिमाग से ये पूरा संस्कार नहीं निकलेगा एक साधारण व्यक्ति जो झाड़ू देने वाला है जिसको आप भंगी कहेंगे और कुछ कह दीजिए उसके घर में बच्चा उत्पन्न होता है वो पढ़ने लगता है और धीरे धीरे अपने लिए पीएचडी प्रोफेसर और इंजीनियर आचार्य बन जाता है पर उसको भंगी की दृष्टि से देखा जाए या नहीं ऐसा बस एक से आप बीस बात समझ लेना ये कहते कहते कुसंस्कार ये भयंकर जातिवाद पढ़े लिखे का नहीं निकलेगा हमने बहुत कुछ देखा कितने सन्यासियों में जातिवाद घुसा बैठा है औरों की भाग क्या है प्रांतीय भाग घुसा बैठा है इसमें कहीं शहरवाद बैठा है कहीं गांववाद बैठा है कहीं झोपड़ीवाद बैठा है कहीं मजदूरवाद बैठा है ये कुसंस्कार के यदि को इतना मारते हैं इतना मारते हैं ये व्यक्ति को शुद्ध नहीं होने देती पवित्र होने नहीं देती इन महापुरुषों ने अपने समय में अपने ढंग से पुरुषार्थ किया महर्षि राम सरस्वती जी ने कितना पुरुषार्थ किया महात्मा गांधी जी ने भी इस विषय में पुरुषार्थ किया अनेक लोगों ने इस विषय में पुरुषार्थ किया पर याद रखना इस विषय में पुरुषार्थ अधिक प्रबल पुरुषार्थ योग विद्या दार्शनिक विद्या बहुत महान योगी बनना अपने नाम है उसके बिना ये कुसंस्कार उठाने नहीं चाहिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कुछ दर्शन की चर्चा को लेकर के चलना चाहिए आपके समक्ष है जीवात्मा अविद्या से अशुद्ध होता है अविद्या के चार प्रमुख क्षेत्र है अनित्य पदार्थों को नित्य व नित्य पदार्थों को अनित्य समझना एक अशुद्ध पदार्थों वह असत्य आचरण को शुद्ध समझना तथा शुद्ध पदार्थों व सत्य आचरण को अशुद्ध समझना सुख को सुख व सुख को दुख समझना जन पदार्थों को चेतन चेतन पदार्थों को जड़ करें आप कितनी दौड़ लगाएंगे कितने ग्रहण पर जाएंगे वैदिक परंपरा के अतिरिक्त ये शब्दावली ये विभाजन आपसे कहीं पढ़ने पड़ेगा ऋषि ने कहा कि चार क्षेत्र है विद्या की और इन चार क्षेत्रों को ही केवल प्रमुख स्थान देना चाहिए इन चारों क्षेत्रों को जानना और चारों क्षेत्रों की जल तब उठाती फेंक चाहिए अगर थोड़ा थोड़ा आपकी पूछता हुआ चलो तो अच्छा रहेगा नहीं तो आप केवल उपदेश बातें सुन सकते हैं धारावाहिक भाषण सुन के आप प्रभावित तो हो सकते हैं पर अज्ञान की जड़ें नहीं उठाई जा सकती आपसे मैं पूछू क्या ये शरीर जो आपका हमारा है ये नाशवान है अब क्या की हम आग में है अब हम सब बदले इसका अभिप्राय यह है कि आपने इस विषय को समझा नहीं या अभिप्राय ये उत्तर दिया वही थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति भी ये नहीं कह पाता कि मैं जी होगा लेकिन ये पागल है खुद मरते हैं खुद पैदा होते हैं तो जिएगा नहीं पर अंतर स्थिति का यदि आप अध्ययन करें चिटोड़े तो अंदर क्या मिलेगा प्राय मैं सदा जीऊंगा मरूंगा कभी नहीं जरूर के देखो इसलिए बिना सत्य हो रहा है आप अध्ययन कर लीजिए मेरे को ये मिलेगा ये मैं मरूंगा पर ये नहीं सदा जीऊंगा आप देख लो बैठ की जान अवस्था में उत्तर यही क्या जी तो तो आदमी मरना नहीं चाहता कोई भी जीव नहीं मरना चाहता शरीर नाश तो हो गई ये तो मालूम है तो मैं यही कहता हूं यही तो मालूम नहीं है के लिए रोज जब वो दृष्टान सुना देता हूं मुझे रात थकान आ जाते है दिन भर सोते रहे एक कथा आती है एक व्यक्ति के पास में घोड़ा था अपना यात्रा करता था चराता था खिलाता था पिलाता था उसको यात्रा करनी पड़ी गंगोत्री यमोत्री की कल्पना की और वो पड़ोसी से कहने लगे भाई ये मेरा घोड़ा आप रखो एक महीने तक और अपनी यातायात के कोई काम कर लेना आगे मुझे वो चला गया गंगा आदि के लिए मैंने कहा मैंने एक मास के पश्चात आने से पहले ही क्षण सोचा तो क्या पता क्या हुआ घोड़े को और वो कई मर गया है वो बेच के खा गया घोड़े को वैसे अब हिंदी है घोड़ा बेच दिया वो आया यात्री जिसका घोड़ा था वो कहने लगा भाई अब मेरा अपना घोड़ा आप दे दो अब मैं अपने से काम दिया करूंगा वो कहने लगे भाई घोड़ा तो मर गया आप दे दो क्या बात बात कैसा तो हुआ था रोग होने से बीमार होने से मर गया थोड़ा उनका उसका खौफ कहा जा हड्डी पड़ती है हाथों का ढेर हो तो दिखाओ कम से कम वो मरा हुआ कहा है तो बूढ़ा तो कहा था वो तो देख दिया और वो और जो बैलों के जो फोन पड़े थे बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े हाथ हाथ में जाते हैं मांस तो हट जाता तो बैल का फोन दिखाया जितने बड़े बड़े सींग जितने अपने गुजरात में गंदगी तो आपका घोड़ा जो मरा था ये कैसे तो ये तो सींग है तो सींग होते हैं कि सींग यही तो रोकता ही मरा था सींग सामने उनमें अनेक प्रश्नों में से प्रश्न उठाया गया था कि दिष्टे जी आगे मत बढ़ो मूर्छित हो जाओगे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है अहनी अहनी गच्छति भूतानी की हिमालय शेषास्थानों में छंदी के मास्टरी मतो परम रोज लाखों प्राणी बनते हैं कीट पतंग मुंशादी में के कहते हैं कि प्रतिदिन ये मौत के यम के मुंह बचा रहे हैं परंतु जो जीवित लोग हैं वो ये इच्छुक है कि हम सदा जिएंगे यही संसार का सबसे बड़ी आश्चर्य बात जो बचे हुए हैं वो इच्छुक है कि हम सदा जिएंगे यही आश्चर्य बात यदि आपने और इतिहास का दृष्टांत लेना हो तो महर्षि दान सरस्वती जी महाराज के जीवन में एक मृत्यु की घटना घटी बहन की मृत्यु हुई थी आश्चर्यजनक अवस्था थी अपने स्वच्छ जीवन में श्रमण ऋषि ने लिखा है उनका भाव है कि देखो मैंने जिस मौत को देखा तो सब रो रहे थे भयंकर परिवार रो गया था नीचे की बीमारी होकर मर गई और मैं देख रहा था मैं रो नहीं सका देखता रहा ये हो क्या उसके पश्चात चाचा जी की मृत्यु होगी और बड़े विद्वान माने गए और उनसे बहुत प्रेम करते थे महर्षि दान सरस्वती जी इतने रोए इतने रोए कभी होना नहीं पड़ा होगा पर इस दूसरी घटना के होते ही स्वामी दयानंद सरस्वती के दिमाग में बुद्धि में बात बैठ गई कि मेरी मृत्यु अवश्य ही हो पर इसका नाम है अनित्य को अनित्य इसके अंदर नियम काम करते हैं जो व्यक्ति अनित्य को अनित्य नित्य को नित्य अशुद्धि को अशुद्ध शुद्ध को शुद्ध दुख को सुख सुख को दुख को दुख सुख को सुख जड़ को जड़ चेतन को चेतन जान देता है वो विवेक सत्ता इसका नाम विवेक है दर्शनों ईश्वर में व्यवहार का रूप दिया जाता है व्यवहारिक स्थिति इसकी आ जाती है चार बातों की तो वो उसका नाम विवेक है और व्यक्ति का नाम विवेक ही है इसका परिणाम यह निश्चित होता है कि विवेक के पश्चात वैराग्य उत्पन्न होता है और इसका परिणाम यह है कि वैराग्य के पश्चात अभ्यास मुक्त होता है विशुद्ध अभ्यास और विवेक वैराग्य अभ्यास का परिणाम यह है कि समाधि आगे हो जाए इसको कोई रोक नहीं सकता आपकी हुई हो तो बताओ किसी बोलो मेरी हुई तो पहली बात गलत किया जो आपने की मेरी बात समझ अब समझ में आई है गलत उत्तर दे रहे थे तो यही तो बात समझ नहीं थी ये दिया है इसके साथ किसी को भ्रम न रहे यदि वो व्यक्ति इन चारों बातों को इस रूप में जानता है तो निश्चित रूप से विवेक है और विवेक है तो मेरा यह होगा योग दर्शन के अनुसार और मेरा यह तो अभ्यास उसी स्तर का होगा निश्चित बात है विवेक यह अभ्यास तीनों की उपस्थिति में योग सिद्ध व्यक्ति होगा समाधि आरंभ होगी यदि हो गई हो तो मान लेना कि हां मैं जान गया हूं ये शरीर नाशवान अन्य अन्यथा अभी नहीं जाए जिस समय व्यक्ति मौत के मुंह में रहता है और ईश्वर को याद रखता है उस समय जो उसकी शुद्ध पवित्र स्थिति रहती है अन्य अवस्था में नहीं रहती कभी देख सकते हैं हुआ उनके खाने की समस्या आ गई किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने सारा विवरण दिया और कुआ खोदने का बिजली जगाने का सारा विवरण दे दिया ये इसका आत्मकार है क्या करिए उसका मनन किया बंधन किया गतिविधियों को जाने का संशय और उसको पूरा पूरा पूछा ये उसका मनन का है यहां अवस्थित होकर सारी योजना देखी निश्चित तो बात ठीक है मैं समझ गया हूं अब प्रयास आरंभ कर लिया काला कर उसने भूमि से पानी निकाला कुआ खोदा बिजली लगाई फल उत्पन्न किया अन्न खाया और जीविका का साधन बना के खड़ा कर दिया इसका नाम है साक्षात्कार प्रत्येक विषय को आप सोचेंगे जब इसे बाती सोचते जाएंगे उस विषय का ज्ञान होगा नीचे ज्ञान होगा नीचे कितना ही पोजिशन ये तो मैंने शरीर की घटना सुनाई और थोड़ी सी गहरी बात में मैं पहुंचू तो आपसे मैं पूछूंगा कि आपके दिमाग में बात रहती थी भूमि नाशवान है चंद्रमा नाशवान है सूर्य नाशवान है और लोग लोग अंतर नाशवान है आपके दिमाग में बैठी ये बात का जो तो प्रग आएगा इस भूमि पर और भूमि पर का तो वैसी जगह पर का दूसरा नहीं बनेगा स्वर्ग से पूछ रहा है मौत के आने पर तू कब आगे तू मरना तो नहीं चाहता जैसे आपने कहा कि मरना कोई नहीं चाहता ये तो बात ठीक अब वो व्यक्ति देखता है जिसने खोल पाया संसार को कोई कोना कोई क्षेत्र कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां मौत से बचा जा सके तो वो व्यक्ति गर्दारी नहीं लौट के फिर आता है और मौत को फिर बुलाता है मौत को बुलाता है ये लौकिक व्यक्ति तो मौत को जानना सुनना भी नहीं चाहता ठीक है तब तो होने जो हो जाएगी जब अब मैं छेड़ो मौत की बात खाने पीने के वक्त मरे ये तो मर जाएंगे ये बिल्कुल चलता है बचना चाहता है हर का चिंता करो मरेंगे मरेंगे मरेंगे अच्छा ये डरने वाला भीरू व्यक्ति डरपोक क्या करता है और डर के भाग जाता है एक सच्ची घटना सुनाऊ सच्ची का मतलब देखी मैंने इस विषय में जो खोज की थी बहुत लंबी खोज की तो मैंने अपने मित्रों को बताया कि मेरे साथ विशेष संबंध रहते उनको पता चला कि भाई इसका तो जीवन कुछ मोहसा आ गया क्या हो गया उनको पता चला उन्होंने मुझे काफी मान लिया पहले से गौरव सागरी भी बहुत थे बड़ा नाम था तो वो करते क्या थे पागल किसी को मिर्गी का किसी को दूसरा किसी को दौरा वो जो है पत्थर मारा किसी को घरवालों को बाहर वालों को पिटाई करके वो करके आप उसको दौरा छूट गया खड़ा तो कहते हैं तो पागल में मारता वार्ता नहीं की मुझे भी पागल मानते थे कहते मारता वार्ता नहीं है तो पागल एक मास तक तो उन्होंने मुझे बारह माना एक महीने तक एक बारह माना तो मैंने सारा वर्णन दिया संसार नाशवान है आदि आदि लंबा चौड़ा उनको दिमाग में बैठ गई बात कि भाई ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है इसको तो बोल नहीं सकता ये तो बात ही और है उन्होंने इतना लंबा चौड़ा मंथन नहीं किया था विष्णु का मंथन नहीं किया था कोड़ों कोड़ों का मंथन नहीं किया था मैं तो महीने से लग रहा था अब क्षणिक बना ये हो गया और वो भी मैं जैसे बैठता था डायरेक्ट ना कर पर ये थोड़ी सी खोल दी फिर आगे चल पड़े फिर वहां जाके खोल के देख लिया फिर चलते रहे चलते रहे बैठा रहते पति रहता था क्यों रखता था आपको पता है नहीं पता अवस्था जो प्राप्त होगी वो अवस्था जो प्राप्त होती है व्यक्ति को सारा संसार प्रलब्ध जो दिखता है यदि आंखें बाहर की ओर आती है तो वो प्रलब्ध अवस्था लिए में ही समाधि रखेगा और थोड़ी सी चर्चा समझाने की लिए उनको क्षणिक बना के तो हुआ इतना मंथन इतना गहरा मंथन इतना लंबा मंथन उन्होंने किया था और वो से थोड़ी दूरी तक जानने से ये चीज सिद्ध नहीं हो पाती पूरे विश्व को छानसार मिलती कोई कौड़ा बात सिद्ध होती है दूसरी अनुमान प्रमाण से बात सिद्ध होती है और हमारा शरीर नष्ट नहीं हो रहा है किंतु अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से सिद्ध है कि निश्चित रूप में नष्ट होगा और ये निश्चित रूप में सिद्ध है कि एक दिन ये नहीं था अवस्था पहुंच गया होगा अब रुक लीजिए भी मर जाए थोड़ी देर में और फिर क्या हुआ हुआ क्या वो दो घंटे रहे दूध पीता था वो खाता था वो मर गया अच्छा वो ये पड़ा क्योंकि अब क्या संस्कार कर उठाने के लिए एक घंटे में आग लगा दी घर घर घर घर घर घर घर जल गया फिर क्या हुआ जल गया रात होगी फिर आया तूफान वर्षा तक पर अनुमान दिया वो जो रात थी ना वो दूर गई धीरे धीरे व्यक्ति तो पर्दे की अवस्था दिखाता है कि ये जैसी इनकी अवस्था है ऐसी मेरी भी निश्चित होगी इसे बचा नहीं जा सकता वो कहता देखो जी मैं देखना चाहता हूं मैं तो मेरे आने वाली बात तो पता नहीं कब आएगी मैं तो दूसरा अवस्था को तो अभी देखना चाहता एक वैराग्यवान व्यक्ति विवेकी व्यक्ति तो कहता मैं अभी देखना चाहता हूं मौत नाम की चीज क्या होती है उसमें क्या तमाशा होता है क्या घटना घटेगी वह वो प्रतीक दृढ़ता देखता है और ये संसारी प्रतीक दृढ़ता है इतना भयंकर डरता है बस पूछो मत अब रात जी को ये पता चल जाए भूकंप आएगा या आने वाला है तो नींद आएगी आप बिना गलती के कितनी बार मुझे उसके बाद आए बचाव करना चाहिए एक जगह कृष्ण समझाने के लिए देखा एक रहा था लकड़ियों से निर्वाह करता था दुखी हो गया पूरा शरीर पसीने में पसीना कक्षरता डाल रहा था कर्मी में उसको पट गिरा उठा के भूमि पर देने का ये मृत्यु हे माओ इस दिन से तुम मरना अच्छा मुझे उठा कल्पना करता है लेकर मौत सामना के खड़ी होगी भाई साहब नमस्ते नमस्ते मौत मृत्यु क्या बात आपने तो कहा था इस दिन से तो मरना अच्छा है मैं आपको उठाने के लिए आ वो गिरजाऊन वाले थे अब बकरा मुश्किल अब इतना कर गया कि इनका देखो मैंने इनको मारने मारने की बात हो छोड़ दो मैंने इन्हें कचड़े छुआने के लिए बुलाया था عليكم शुद्ध आचरण है जैसे कि अहिंसा के विपरीत हिंसा सत्य के विपरीत असत्य दान के विपरीत चोरी आदि आदि ये जो आचरण है इसको व्यक्ति शुद्ध समझता है और अहिंसा आदि वर्तों को अशुद्ध समझता है आत्मनिरीक्षण के साथ चलिए मैं आपसे पूछूं आप आत्मविक्षण के साथ उत्तर देने का प्रयास करेंगे क्या आपको एक अति सुंदर शरीर जब दिखता है तो क्या वो अशुद्ध दिखता है या शुद्ध अर्थात उस अति सुंदर शरीर को आप शुद्ध देखते हैं या अशुद्ध ये उदाहरण रोज आते हैं उदाहरणों की कमी कुछ नहीं रेल में बैठ जाइए बस में बैठ जाइए बम्बई में चले जाइए एक से एक बढ़ के व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है स्त्री हो पुरुष हो यह अलग विषय है पर उसमें ध्यान देंगे आप आपसे मैं पूछना चाहता हूं अस्सी वर्ष का बूढ़ा हो सत्तर का हो एमबीए पीएचडी हो वो शरीर जो युवावस्था का शरीर दिखता है क्या उसको वो शुद्ध समझता है या अशुद्ध अशुद्ध आप अपना बताइए क्या निरीक्षण करते हैं है जी हाँ जी क्या समझता है अब आप संकोच क्यों करते हैं आपका क्षेत्र बहुत संकुचित है इतना विकास नहीं हुआ है हो जाएगा कोई आपत्ति नहीं है पर विकास करना सीखना पड़ेगा परीक्षण नहीं करना एक बात है आप नहीं परीक्षण कर पाए पर प्राय मोटी बुद्धि वाला भी परीक्षण करता है कि सुंदर शरीर को वह बिल्कुल शुद्ध समझता है और आनंदमय समझता है उसके छूने से स्वर्ग लोग में मैं चला जाऊंगा ये मानता है मुंबई वाले से पूछ लो दिल्ली वाले से कलकत्ते वाले से पूछ लो एमबीबीए पीएचडी से पूछ लो इस शरीर उसके अंदर इतना मल है इतना मल है ये जिसे ज्योति तक मल इतना होने पर भी व्यक्ति कहता है ये शुद्ध है पवित्र है मलमूत्र का इसमें नाम निशान नहीं है इसको जो छू लेता है वो स्वर्ग में चला जाता है नहीं देखिए आप आप अनुभव करेंगे आपने अभी अनुभूति करना आरंभ नहीं हुआ है जो आप अनुभव करते जाएंगे तो स्वयं आगे कहेंगे हाँ वो बात ठीक थी जो आपने बताई ऐसा रहते हुए भी याद रखिए इसका अभिप्राय यह नहीं लेना कि अशुद्ध है तो ये शरीर बेकार है कुछ लोग कह देते हैं शरीर तो अपवित्र है अशुद्ध है मिट्टी है क्या करना मर गया तो मर गया जीवेगा तो जी जाएगा क्या लेना देना वैदिक परंपरा में यह स्वीकार नहीं किया जाता उसको साथ जोड़ते हुए चलेंगे हम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम रोगास्त से अपहरतार श्रेय से जीवित आयुर्वेद आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ये आधार है चारों फलों की सिद्धि शरीर से होती है बिना शरीर के धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि बिल्कुल नहीं होती चार फल है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल मूत्र धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य इसका मूल है आधार है और लोग इसके विनाशक है और वो मोक्ष से भी वंचित कर देते हैं व्यक्ति को ये आयुर्वेद का सिद्धांत एक और रखिए रखना ही चाहिए ये बिल्कुल ठीक है पर आप दूसरी ओर चलिए दर्शनकार के शब्दों में चलिए दर्शनकार कहता स्थाना बीजा बना चंदना निधनागति काय माधेय शोच द्वार पंडिता ही असुचिम ठीक बोला गया नहीं स्थानात एक बीजात दो उपस्तंभनाथ तीन चंदना हाँ, उपस्तंभा है निस्यंदार दो, दो है ना लगा निस्यंदार और निधनात् अपि कायम आधेयम शोचत्वात् पंडिता ही एसुदिन ये व्यास है उसने कहा व्यक्ति तो यमदेव का पालन करने के लिए धरती को उतरा था मैं आप आजीवन में बतारी रहूंगा वो वन प्रस्थवस्था में आ गया है फिर इसको छोड़ के अथवा एक ब्रह्मचारी सीधा वो सन्यासी की ओर चलता है और ऋषि कहते हैं ये व्यक्ति संकल्प लेने वाला जब व्यवहार नहीं करता है एक इतना सुंदर शरीर दिखाई देता है और कहता है ये तो स्वर्ग लोग में ले जाएगा मुझे <laughs> ये जो शरीर दिख रहा बिल्कुल सारे संसार को स्वर्ग लोग में ले जाएगा तो ऋषि ने कहा ध्यान दो ये बात नहीं है स्थानाद जहां से ये शरीर उत्पन्न होता है वह अति अशुद्ध है बीजा इसका बीज भी और आगे उपस्टम्बाद इन मलमूत्र का ये उपस्तंभ है अवरोधक है पिंड बना हुआ है और नी निश्चिंदा इसमें लगातार मैल उत्पन्न होता है एक क्षण पर भी रुकता नहीं है प्रवाह बह रहा है या नहीं बह रहा यदि पुराने लगे तो चलता फिरता शौचालय क्या है निया कैसा लगे आपको जलता पड़ता शौचालय निसंदा निराग भी मरने के पीछे क्या हालत होती है कोई छूना नहीं चाहता काय है सोचत्वाद शरीर को धोते रहो मानते रहो गंदा मानते रहो धोते रहो फिर गंदा दिन भर ऐसे लिपापताई करती रहो ये पूरा तो धोता ही इसलिए पंडित जो लोग हैं विद्वान जो लोग हैं इसको अशुद्ध मानते हैं स्थानात बीजा ये तो दिए हुए दिमाग से काम लेके देख दीजिए अपने शरीर में व्यक्ति मोहित होता है कितनी बार पागल हो जाता है एक व्यक्ति कह रहा है एक दिन हे भगवान मुझे जन्म कहीं दे देना पर मेरा शरीर बहुत सुंदर बना अपने शरीर में पागल रहता है व्यक्ति और अपने से बचने के पीछे दूसरों के शरीर में पागल बम्बी नगर जैसे नगरों में आपने देखा हो या दिल्ली के चौराहों पर देखा हो एक से एक बढ़ करके फैशन एक से एक बढ़ करके उसके बाल किसी के लाल लाल बाल दिखाई देते हैं के भी लाल लाल बाल बुढ़ियाओं के भी लाल लाल बाल और वो देखे तो पता नहीं एक पता नहीं मैक्सी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको देखिए जादू की तरह वो सारी सड़क को साफ करती चलती है कई बार हम सोचते हैं कि हम पागल हैं या ये पागल और आज आजकल पागल और बुराई की पहचान क्या है बड़ी से बड़ी संख्या जिस बात को कह रहे वो अच्छाई <laughs> छोटी संख्या हो वो पागल ये मापदंड है हाँ हमने कहा ये मूर्ति दूध नहीं पीती भाई नहीं पीती कहते लाखों लोग पागल है और इसका ये पागल होती है मैंने कहा हम हाँ, पागल है वो ये कहते पागल नहीं हो सकते थोड़े लोग पागल हो सकते हैं अजीब लोग पागल नहीं हो सकते भाई कितने भाग है तो सारे पागल यद्यपि आपको विषय गंभीर होने से शुष्क लग सकता है पर ध्यान देना अविद्या की जड़ें यहां रहती कभी देख लेना ब्रह्मचारी लोग भी बहुत अध्ययन करते हैं विद्वान पढ़ाते हैं पर ब्रह्मचारी लोग ये न मान बैठे हमने इस बात को जान लिया बिल्कुल नहीं ये अज्ञान नाम की चीज बिना परमात्मा के प्रत्यक्ष के हटाई नहीं जा सकती इतनी भयंकर है व्यक्ति एक दिन नहीं दो दिन नहीं वर्षों तक छूजता है और सारी बातें देखता जाता है वर्षों में जाके उसको थोड़ा सा होश आता है कि हां शरीर के अंदर मनमूत्र रहती है अच्छा आपने छोटा सा बच्चा देखा कितना सुंदर लगता है, नहीं? माता को बहुत सुंदर लगता है, है? और इनको भगवान इतना प्रिय नहीं लगता जितना वो वो छोटा बच्चा प्रिय लगता है क्यों ठीक है ना जी बोलो जितना प्रिय छोटा बच्चा लगता है लड़की लगती है बच्चा वैसा भगवान प्रिय नहीं लगता अब ध्यान दे दिया बुद्धों को भी वो बहुत प्यारा लगता है कई बार तो ध्यान में बूढ़े बैठते हैं हम पूछते हैं आज क्या रहा कहने क्या और तो ठीक रहा फिर ध्यान में मेरा पोता याद आता <laughs> वो अब कई बार पोते की स्थिति क्या होती है यहां टट्टी करी वहां टट्टी की मुंह को रगड़ दिया ये रगड़ दिया वो रगड़ दिया गूढ़े ने देखा पूरा नाम चला दिया पहले भी देश के अंदर मसाला भरा पड़ा था वो पहले नहीं आता था ये ये मन उसके पहले अंदर नहीं था पहले जू जाटता था चूमता था अब वो यूं जाता मुझे घर में कई बार ऐसे लोग होते हैं आठ दस जितने गंदा बया बच्चा वो भी सोचा और करेंगे मैं जो एक से एक तड़के चाहते हैं बच्चा वहीं सेना पड़ा रहे के समय तो तैयार हो गया और जो गंदा होगा जो बाहर खिसकू घुसकू और खिसकू की स्थिति ऐसी छीन करके भी उसको चूमेगा चाटेगा जब शुद्ध होगा बाल से मिला मिला के और जब गंदा हो जाएगा तो बाल नाक चला के भाग जाएगा आप ध्यान देंगे व्यक्ति अपने शरीर में भी पागल रहता है अपने शरीर के अंदर सुंदर होना चाहिए आपत्तिजनक नहीं है शरीर शुद्ध हो सुंदर हो बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है पर याद रखना जब शरीर को अशुद्ध शरीर को व्यक्ति इसको शुद्ध मानता है और इसे श्रृंगार में लगा रहता है तो पागल हो जाता है जैसे अपने शरीर में पागल होता है वैसे दूसरे के शरीर में पागल होता है सच्ची घटना सुनाता हूं अमृतसर की लगभग सत्तर वर्ष का व्यक्ति है सत्संग में आते हैं राजी समाजी में और मुझे घर पर बुला के ले गए और कहने लगे महाराज जी आज हमारे घर को पवित्र करो और चलो चलते चलते चलते अपने आप कहने लगे एक बात बतलाऊ मैंने कहा बताओ कि मुझे लोग महाशय कहते हैं महाशय महान है उद्देश्य जिसका महान व्यक्ति महान काम करने वाले का नाम महाशय है पर मैं महाशय हूं नहीं क्या मान भाग क्या कई बार रेल में बैठता हूं और मैं जब बस में बैठता हूं कोई सुंदर शरीर जब आ जाता है मेरा मन डूब जाता है सुंदर शरीर को देखे व्यक्ति पागल हो जाता है उसको धर्म कर्म कुछ भी याद नहीं आता ये जितनी दुर्घटनाएं होती हैं आप देखेंगे समाचार पत्रों में आते हैं बलात्कार की ये शरीर के आधार पर बहुत अधिक होती है ये प्रशिक्षण व्यक्ति को दिया जाता है और लेना चाहिए और इसके बिना व्यक्ति अपने मन को नहीं रोक पाता इसके स्तर है अलग अलग ये व्यक्ति रोज अध्ययन करता है प्रतिदिन अध्ययन करता अपने शरीर का स्वयं अपने शरीर से मन निकालता है धोता रहता है फिर दूसरे के शरीर से मन देखता निकलता रहता है और एक के पीछे दूसरा बच्चों को देखता है गंदगी में पड़े हुए और वो सबको अनुमान लगा देता है जैसे कि बालक में गंदगी बच्चा तो मादान में टट्टी कर देता है और कई बार तो टट्टी को उठा के मुंह में डाल छोटे बच्चे होते हैं ना पेंट बनाकर पिंड रखा था पेंट चोर में की तरह अध्ययन नहीं करते आप अध्ययन करके देखो और इसके बिना छुटकारा नहीं मिलेगा तेरे माने दे रहे हैं बिल्कुल छुटकारा देश मात्र नहीं है लाखों बार देखना पड़ेगा आपको शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है और देखते देखते देखते प्रयोग करते कालांतर में स्थिति आएगी जब भी शरीर का विचार आएगा आप शरीर को अशुद्ध देखेंगे जब भी शरीर का विचार आएगा शरीर को अशुद्ध देखेंगे आप और शरीर को जब अशुद्ध देखेंगे तो शरीर के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा कभी देख लेना शरीर के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा कई साधक या ब्रह्मचारी लोग पूछते हैं कि आप ब्रह्मचर्य के विषय में बताते हैं पर हम जो सुंदर शरीरों को देखते हैं तो हमारा मन लालायित होता है उसको कैसे रोके मैंने कहा मैं बतलाता हूं आप किसी भी शरीर को देखते जब आकर्षण उत्पन्न होता है आप उसका चमड़ा उधेड़ दीजिए बौद्धिक स्तर पर शरीर का चमड़ा उधेड़ के रखिए फिर देखना फिर नीचे मांस चर्बी हड्डी मल मूत्र ऊपर खाया पिया किस भाग में नीचे मल कितना आपको जब उधेड़ देंगे शरीर को तब यह आकर्षण है स्वाभाविक है शरीर को उधेड़ देता है वास्तविकता है और यदि शरीर को नहीं उधेड़ा जाता नहीं खोला जाता या उसमें चलो तो, जहां पर ऑपरेशन होता है शल्य शिक्षा होती है ना वहां जाके देखो एक दो चार बार पर डर डर लगता है कई बार आप भाग में जाना वहां डर लगता है सबको तो नहीं लगता एकदम आप बम्बई में देखने चले गए बम्बई में किसी का यहां जरा कटा पड़ा वो लकड़ की तरह पड़ा वो पानी से बट रखा उसके दाढ़ी ऐसे बुढ़ों की तरह जैसे आपकी किसकी बताऊं <laughs> पता नहीं पुरोहित जी हमारे साथ थे आर्य समाज के उसने जो वो इतना वो पटा हुआ व्यक्ति देखा ना आधा क्योंकि कहा स्वामी जी मैं नहीं देख सकता भाग पड़ा <laughs> तो आप देखेंगे कि वो कटी पटी चीजों को देखो तो पता चलेगा वो वास्तव में है क्या है तो याद रखिए मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है इस भाग का शरीर आदि जो अशुद्ध पदार्थ है उसको तो व्यक्ति शुद्ध मानता है पर वो शुद्ध इस रूप में है नहीं दूसरा भाग इसका है आचरण आचरण यमने आचरण इन अच्छे अनुष्ठानों को सत्य भाषण को ब्रह्मचर्य को दान को अहिंसा के पालन को सभी जगह लागू करिए इनको व्यक्ति बुरा समझता है झूठ बोलने को अच्छा समझता है चोरी करने को अच्छा समझता दान देने को इतना अच्छा नहीं समझता एक बात के कहने से सब जगह लागू शराब पीना अंडे खाना आदि उसको अच्छा समझता है सब जगह लागू होता है आचरण की दृष्टि से जब देखेंगे हम अशुद्ध आचरण को व्यक्ति शुद्ध समझता है और शुद्ध आचरण को अशुद्ध समझता है तो ये जीवात्मा को अपवित्र करने वाला कौन सा है दूसरा भाग है और तीसरा दुख को सुख समझता है और सुख को दुख समझता है इन विषयों की गंभीरता से व्याख्या करें तो घंटे तक सुनो बार बार सुनो समझ में आएंगे और जड़ को चेतन समझता है चेतन को जड़ समझता है थोड़े से शब्द हैं आप इनको ले लीजिए और प्रत्येक क्षेत्र में रखे चलिए आप अपना अध्ययन बहुत अच्छा कर सकते हैं प्रत्येक चारों चारों क्षेत्रों में आपको पता चलेगा आपको ये पता चलेगा कि मैं तो बिल्कुल ही अज्ञान में डूबे हुआ रहता हूं जाने वाले इन चारों विषयों में जो व्यक्ति सीधा सरल जैसा ऋषि ने कहा देखता है तो वो विद्वान है और इन चारों विषयों में इसके विपरीत देखता है तो वह अविद्वान है जीवात्मा अविद्या से युक्त होता अशुद्ध हो जाता अशुद्ध होने के पीछे जितने अनर्थ है जितनी बुराई है जितनी कुरीतियां हैं जितना न्याय है अब हमारा समय समाप्त होता है समझ रखिए जीवात्मा अज्ञान मिथ्या ज्ञान अविद्या से अशुद्ध होता है और जीव तत्व ज्ञान वास्तविक ज्ञान सत्य विद्या से शुद्ध हो रहा है इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक नियम ही बनाया अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए अविद्या को पहले जान तो लो अविद्या हमको दिखाई देने लग जाएगी प्राक्रमण अविद्या का स्वरूप हमारे सामने आए और हम विद्या को हाथ में लें और फिर आक्रमण करेंगे स्वरूप पर और ये दिन भर चलता ही आकर आपके सामने सुंदर शरीर आया आज वाली घटना को आप देखेंगे वो पवित्र दिखने लगा उन्हें आक्रमण किया नहीं अशुद्ध है सट उसके ऊपर धक्का मारा उल्टा प्रत्येक बुराई को हटाने के लिए उसके विपरीत विचारधारा होना अनिवार्य रहेगा क्या समझ पाए प्रत्येक अज्ञान प्रत्येक अधर्म आचरण प्रत्येक बुराई प्रत्येक संस्कार को हटाने के लिए ठीक उसे उसकी टक्कर लेनी पड़ेगी प्रातः काल से लेकर सोने तक लेनी पड़ेगी और कई बार तो सोते समय ये बुराई से टक्कर लेनी पड़ती है सपने सपन में क्योंकि आप स्वप्न में चोरी तो नहीं कर लेते कभी जी हाँ। यह याद नहीं रहते हाँ आप देखेंगे दिन में जबकि चोरी नहीं करता और रात को चोरी कर लेता है धर्म जो संघर्ष करता है टक्कर लेता है वो संस्कार रात्रि को भी चोरी नहीं करने देता दिन में जो ढीला रहता है चोरी करूं ना करूं वो रात को चोरी जरूर करेगा साधन और साधन और अन्य